मसीह इब्ने मरियम तो एक रसूल थे इससे ज़्यादा कुछ नहीं उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं और उनकी मां सिद्दीक़ा थी ये दोनों खाना खाते थे देखो हम उनके सामने किस तरह खोल खोल कर निशानियां वाजे कर रहे हैं फिर ये भी देखो कि उनको औंधे मुंह कहां ले जाया जा रहा है